हम्म, पहले प्रतिबोध विदित मतम इसका तो व्याख्यान हो गया उसके बाद कुछ एकदेशी व्याख्यान कथन करते हैं कोई का कहते बोध क्रिया का कर्ता बोध क्रिया का कर्ता कह करके बोध है उसका लक्षण उसे ज्ञात तो होता है बोध का कर्ता को ऐसा मानेंगे तो तो बोध उसमें उत्पत्ति नाश वाला हुआ उत्पन्न होता है नष्ट होता है बोध का आश्रय होगा कभी सविशेष कभी निर्विशेष हो जाता है ऐसा मानने से उसमें आपत्ति आत्मा विक्रिया विकार हो जाएगा विकारी सावेव अनित्य अशुद्ध ये सब दोष होगा और आत्मा मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में से मानते हैं वैशेषिक दर्शन में आत्मा ज्ञाता तो है किंतु उसमें विक्रिया नहीं है विकार नहीं उसमें गुण उत्पन्न होता है ज्ञान द्रव्य मात्र है ये जड़ है जब बुद्धि उत्पत्ति होती है तो ज्ञान नहीं तो जड़ है ये जो कहते हैं आत्मा के साथ मन का संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है एक तो आत्मा और मन दोनों निरवय मानते हैं सावयव नहीं उनसे संयोग नहीं होगा यदि होगा तो नित्य संयुक्त रहेगा व्यभाग नहीं होगा आत्मा मन संयोग यदि मानते हैं क्योंकि मन है मूर्त आत्मा है विभु और विभु का लक्षण सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम मूर्त होता है जितने क्रिया वाला सब मूर्त है और अविभु परिमाणवत्वम मूर्त का भी लक्षण किया विभु परिमाण है आकाश आदि में उससे भिन्न परिमाण जिसमें है सब क्रिया वाले मूर्त है तो मन भी मूर्त होने से आत्मा के साथ नित्य संयुक्त होगा तो स्मृति उत्पत्ति नियम नहीं बनेगा अनुभव काल में शरण स्मरण नहीं होता है और संस्कार बहुत होने पर भी सबका स्मरण नहीं होता है ये दोष अपरिहार्य संस्कार व आत्मन संयोग रहता है सर्वगतत्व जो कहा सर्वा व्यवधान मात्र न तो सर्व न तो संयुक्तम संसर्ग धर्मित्वम च आत्मन श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात् आत्मा में संसर्ग का आत्मा धर्मी होगा संसर्ग उसमें होगा संबंध आत्मा का संबंध मानेंगे संबंध का धर्मी हो जाएगा संसर्ग तो जैसे भूतल में घट है तो घट का धर्मी भूतल कहा जाता है घट संयोग है भूतल में तो संयोग का धर्म संयोगात्मक धर्म भूतल में है तो संयोग धर्मी भी भूतल होता है संसर्ग रहेगा आत्मा में तो आत्मा संसर्ग धर्मी हो जाएगा आत्मा में संसर्ग धर्मित्व ये विरुद्ध है श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात् श्रुति विरुद्ध स्मृति विरुद्ध न्याय विरुद्ध तीनों श्रुति विरुद्ध कैसे श्रुति कहती असंगो नहीं सज्जते किसी के साथ सक्त संबद्ध नहीं होता है असंग है असक्तम सर्ववृत गीता में क्या स्मृति हुई ये श्रुति स्मृति विरुद्ध दोनों हो गया श्रुति कहते असंग असक्तम गीता में आया तो असंग साथ असक्त है तो किसके साथ संबंध नहीं होगा और संसर्ग कैसे होगा आत्मा में और न्याय विरुद्ध कैसे न्यायश्च गुणवद गुणवता संसृज्यते नातुल्य अतुल्य जातीयम कि संयोग कहाँ होता है गुण वाले का गुण वाले के साथ संयोग होता है गुण वाले के द्रव्य दूसरे गुण वाले द्रव्य के साथ संयोग होता है आत्मा तो निर्गुण है अतो निर्गुण निर्विशेषम सर्वविलक्षणम केनचित् अपि अतुल्य जातेन संसृज्यते एतेत न्याय विरुद्धम आत्मा निर्गुण है साखी चेता केवल निर्गुणश्च निर्विशेष कोई विशेष आत्मा में नहीं है सबसे विलक्षण है जितने पदार्थ सबसे विलक्षण है आत्मा ब्रह्म केनचित् अपि अतुल्य जातेन उससे भिन्न जितने सब जड़ है किसी के साथ शुद्ध आत्मा से विलक्षण जड़ किसके साथ उसका संबंध नहीं होगा अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में होता ही नहीं है आरोपित तो होता है मरुभ में जल दिखता है तो जल के साथ मरुभूमि का संबंध कभी नहीं है इसी प्रकार आत्मा अधिष्ठान सत्य है बाकी जितने अतुल्य जाते सब आरोपित है उनका संबंध नहीं हो सकता है इतेत न्याय विरुद्धम भवेत तस्मा नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा ब्रह्मित अयम अर्थ सर्वबोध बुद्धित्व आत्मन सिद्ध्यति नान्यता इसलिए सिद्ध हुआ आत्मा नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्ञान है अलुप्त विज्ञान जिसका लोप नहीं होता है इसलिए नित्य जो विज्ञान स्वरूप ज्ञान की उत्पत्ति नाश घट ज्ञान की उत्पत्ति नाश वो ज्ञान नहीं जो नित्य अलुप्त कभी लोप नहीं होता नित्य रहता है ऐसे विज्ञान स्वरूप सुसुप्ति अवस्था में भी रहता है स्वरूप ज्ञान वृत्ति स्वरूप ज्ञान नित्य है वृत्ति की उत्पत्ति होने से वृत्ति के संबंध से वृत्ति ज्ञान को भी अनित्य कह देते उत्पत्ति नाश वाला किंतु जो सारे वृत्ति में अनुगत होकर के व्यापक चिद रूप विज्ञान रूप दृक रूप रहता है और ज्योति प्रकाश रूप ज्ञान रूप है या ज्योति का था आलोक नहीं ज्ञान स्वरूप है आत्मा चेतन है वही ब्रह्म इत अयम अर्थ यही अर्थ है सर्वबोध बुद्धित्वे आत्मन सिद्ध्यते नान्यता सर्वेषां बोधानां बुद्धित्वे सारे बोध जितने प्रत्यय ज्ञान रूप रस घटपट आदि का ज्ञान सबको प्रकाश करता है सबको सबका बुद्धा बोध से बुद्धा बोध से प्रकाशक सारे प्रत्यय का प्रकाशक है ज्ञान साक्षी है आत्मा आत्मा ही सारे वृत्ति को प्रकाश करता है ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर लेता है सारे बोध में अनुगत होकर के रहता है और उसको प्रकाश करता है तब सिद्ध होता है अन्यथा न सिद्ध्यति तस्मात् प्रतिबोध विदित मतमिति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभि प्रतिबोध विदित मतमिति यथा अस्माभि यथा व्याख्यात एव अर्थ जैसे मैंने व्याख्यान किया ऐसे ही अर्थ है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध विदितम सारे बोध में बोधम बोधम विपसाए एक दो ने लेके नहीं सारे बोधम सर्व प्रत्ययदर्शी सारे बोध में अनुगत होकर के रहता है चिद्रप के संबंध से सारे वृत्ति को बोध कहा जाता है तो सारे बोध में अनुगत होकर के रहता है उसमें हरास बुद्धि उत्पत्ति नाश कुछ नहीं अनुगत हमेशा रहता है वृत्ति में वृत्ति का अधिष्ठान वृत्ति का प्रत्यगात्मा वृत्ति का प्रकाशक रूप से रहता है ये जो व्याख्यान क्या वही यथार्थ है यत पुनः स्वसंविद्यता प्रतिबोध विदितम इत्यस्य वाक्य से अर्थ थे को कहते प्रतिबोध विदितम का अर्थ प्रतिबोध विदितम बोध हुआ तो ज्ञान हो गया बोध होने पर ज्ञान हो गया तो स्वसंवेद्य स्व प्रकाश उसको कोई दूसरा प्रकाश नहीं करता है ज्ञान होते ही प्रकाश हो गया ऐसे स्व प्रकाश प्रतिबोध विदितम बोध होते ही प्रकाश हो गया तो आत्मा स्वसंवेद्य स्वप्रकाश प्रतिबोध विदितम का अर्थ करते हैं स्वप्रकाश स्वसंवेद्यता स्व संवेद्य ये वाक्य का अर्थ कहते हैं आत्म ये दिया आत्मने आत्मानं पश्यति स्वयमेव आत्मना आत्मानं पश्यति स्वयमेव आत्मानं वेत्त पुरुषोत्तम इसको लेकर के आत्मा ही आत्मा को प्रकाश करता है ऐसे कहते हैं स्वयं प्रकाश तो मानते हैं वेदांत में अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशांत निरपेक्षण इतर पदार्थ का आभास हो तो ठीक है किंतु बौद्ध लोग कहते हैं ज्ञान को सब प्रकाश स्वयं ज्ञान अपने को प्रकाश करता है प्रकाश का कर्ता भी ज्ञान प्रकाश का कर्म भी ज्ञान प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान ज्ञान को स्वयं अपने को प्रकाश करता है ऐसा मानते हैं ऐसे मानेंगे तो प्रकाश करता और कर्म कर्तृत्व तो कर्म तो एक ही ज्ञान में ये विरुद्ध है एक क्रिया का कर्ता और कर्ता एक समय में एक नहीं होता है ये ठीक नहीं है स्वयं प्रकाश अर्थ नहीं स्वयं अपने को प्रकाश करता है प्रकाश अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान रहता है तत्र टीका में यद वेद्यम तद वेदितुर वेदना से भिन्नम ये व्याप्ति बताते जो ज्ञेय पदार्थ है वेद्यम ज्ञेय पदार्थ आप जिसको जानते हैं वो उसको कहा जाएगा वेद्य वेदिता कौन होगा स्वयं आप जानने वाला तद वेदितुर और वेदन है ज्ञान जिसको आप जानते हैं घटपट रूप प्रसादी वो आपसे भिन्न है और घट ज्ञान से घट भिन्न है रूप ज्ञान से रूप भिन्न है घटपट आदि है किंतु ज्ञान उत्पन्न होता है जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है उसी समय घट की उत्पत्ति होती है आपको घट जब दिखा तभी घट की उत्पत्ति होती है और नहीं देखे तो घट नष्ट हो जाता है ऐसा है घट की उत्पत्ति तो पहले हुई इंद्रिय सन्निकर्षण से ज्ञान होता है तो वेदन ज्ञान वेद्य घट से भिन्न है अवेदिता घट से भिन्न है वेदिता ज्ञाता घट से भिन्न है क्या अज्ञान घट से भिन्न है तो वेद्य ज्ञान से भिन्न हुआ या ज्ञाता से भिन्न हुआ दोनों से भिन्न अभिन्न कौन भिन्न वेद्य और ज्ञान ये दोनों हैं कौन भिन्न है ज्यादा नहीं कौन भिन्न है प्रश्न है वेद्य नहीं दोनों से भिन्न है ज्ञान और ज्ञाता दोनों से भिन्न कौन हुआ वेद्य और और कोई वेद्य भिन्न है किससे भिन्न है ज्ञान और ज्ञाता इससे भिन्न कौन है वेद्य ये देखो दिया यद वेद्यम तद वेदितुर वेदना च भिन्नम वेदितु क्या भी होती है हैं पंचमी षष्ठी किसने कहा क्या वेदितु क्या प्रतिवेदिक है वेदित्री प्रतिवेदिक धातु क्या है कटने कठिन है वेद ज्ञान है क्या प्रत्यय हुआ क्या सूत्र नूल त्रिचौ बीच में ई कहां से आ गया आर्धातु से वेदित्री पंचम दे वेदितु ज्ञाता से ज्ञान से भिन्न है दृष्टांत यथा घटादि घटादि वेद्य है या वेदिता है वेद्य है आप जानते हो तो आप वेदिता है आपको घट का ज्ञान होता है ज्ञान और ज्ञाता से भिन्न घटादि ये व्याप्ति ये व्याप्ति का विरोध हो क्या हुआ स्वयं अपने आप को जानेगा आत्मा वेदिता हो जाएगा और वेद्य भी हो जाएगा और ज्ञान रूप ये मानेंगे तो व्याप्ति का विरोध होने से स्वसंवेद्यत्व वास्तव नोपपद्यते स्वसंवेद्यत्व स्वयं अपने को प्रकाश करता है ये वास्तव नहीं हो सकता है तत बुद्ध्यादाव भाव आरोप्य आत्मना तस्य विद्यत्वं वाच्यमिति निरुपाधिक स्वरूप स्थिति न स्यात् इत्याह बुद्धियादो आत्मभावम आरोप्य बुद्धियाद में आत्मत्व का आरोप होता है बुद्धियादो बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है जो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है से बुद्धि में वह आत्मत्व का आरोप करते हैं जीव स्वरूप का अर्थ कहा चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते जीव शब्द से अधिष्ठान चैतन्य लेना और लिंग देहश्च यह पुनः लिंग देह सूक्ष्म शरीर चिच्छाया लिंग देहस्था चिच्छाया चिदाभास लिंग देह के अंतर्गत बुद्धि में चिदाभास चिदाभास सूक्ष्म शरीर अधिष्ठान चैतन्य ये समुदाय को लेकर के जीव कहते हैं उस जीव में उसमें आत्मत्व का आरोप किया गया शुद्ध अधिष्ठान आत्मा है किंतु आत्मत्व का आरोप हो गया चिदाभास विशिष्ट बुद्धि अधिष्ठान चेतन सब को मिला करके बुद्धियादो आत्मभावम आरोप्य आत्मभाव का था आत्मत्व का आरोप करके आत्मनातस्य वेद्यत्वम वाच्यम आत्मा से उसका वेद्य कहा निरुपाधि स्वरूप स्थित न स्यात् यदि स्वयं विद्य हो जाएगा स्वयं आत्मा वेदित वेदिता वेद्य निरुपाधि स्वरूप स्थित न स्यादिता तत्र भवति सोपाधिकत्व आत्मनो सोपाधिकत्वे आत्मनम सोपाधिकत्वे आत्मन सोपाधिकत्वे ये संभव है बुद्ध्यादि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मान व्यतीति संव्यवहार ये व्यवहार होता है आत्मना आत्मान व्यक्ति अपने से अपने को जानता है जो व्यवहार हुआ इस प्रकार व्यवहार होगा कब सोपाधिकत्वे आत्मना आत्मा को सोपाधिक मानेंगे तो बनेगा सोपाधिक में तो का आरोप करके उसके द्वारा जानता है ये व्यवहार बनेगा निरुपाधि स्वरूप नहीं होगा सोपाधिकत्वे आत्मना भवति टीका में सोपाधिकत्वेति तानादस्य स्वसंवेद्यत्व अनंगीकाराद परवेद्यत्व प्रसज्जते इत्यपि न वाच्यम इत्याह कणाद मते स्वसंवेद्यत्व अनंगीकाराद स्वसंवेद्य नहीं मानते अनंगीकार बलात् परवेद्यत्व प्रसज्जते स्ववेद्य नहीं माने तो परवेद्यत्व आएगा इत्यपि न वाच्य भी ठीक नहीं संवेदन स्वरूपत्वात् भाष्य में आत्मनेव आत्मानं पश्यति स्वयमेव आत्मनात्मानं वित्तत्वं पुरुषत्वं ये जो कहा गया इसे व्यवहार होता है एक आत्मा सबको मिला करके कल्पना करके वो आत्मत्व आरोप करके अपने से अपने को जानता है ऐसे व्यवहार होता है सोपाधिक आत्मा में न तो निरुपाधिकस्य आत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवती नत्तु नतु ननु नहीं नत्तु निरुपाधिक से न निरुपाधिक आत्मा एक होने से उसमें स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता भी नहीं है अन्य के द्वारा प्रकाशित होता नहीं और स्वसंवेद्य ये भी नहीं स्वसंवेद्य स्वप्रकाश जो कहते वो शुद्ध स्वरूप प्रकाश रूप है इसके लिए स्वसंवेद्य कहते हैं ये नहीं कि स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है प्रकाश का कर्ता और कर्म है नहीं है साहब अपरसंवेद्यत्व नहीं है अन्य को है नहीं उसको प्रकाश करने के लिए विज्ञान तारा मरे केन सब सबको प्रकाश करने वाला उसको किससे जाने और स्वयं अपने को प्रकाश करता है अर्थ नहीं अन्य प्रकाश के बिना प्रकाश माने है <clears throat> संवेदन स्वरूपत्वाद में संवेदन स्वरूपत्वात् अपेक्षा च न संभवती स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षाया न संभव तद्वत दीप प्रकाशात्मक है और तो दूसरे प्रकाश को अपेक्षा करता है दीप को स्वयं प्रकाशात्मक होने से अन्य प्रकाश की अपेक्षा है क्या करता है नहीं हाँ या नहीं क्या बोलते हो करता है ना हाँ नहीं सुन क्या करता है सुनो नहीं करता है क्या प्रश्न है दीप प्रकाशात्मक है वो अन्य दीप की अपेक्षा करता है नहीं करता है ये पूछाता एक दीप दूसरे दीप का अपेक्षा करेगा किसकी अपेक्षा करेगा टॉर्च क्या लाइट को सूर्य को दीप प्रकाशात्मक होने से अन्य प्रकाश की अपेक्षा करता है हां कर दो हाँ या नहीं क्या बोलते हो हां हां नहीं सीधा बोलो ऐसे बोल से दोनों का जाता है एक दीप अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है ये तो दिया लिखा है यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षा न संभव एक प्रकाश अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है इसी प्रकार आत्मा ज्ञान स्वरूप संवेदन स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म संवेदन ज्ञान स्वरूप होने से अन्य ज्ञान की अपेक्षा न संभवती संवेदनांतर अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होगी जिस प्रकार प्रकाश अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है तद्वत टीका में बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम तब किम न स्याद इत्यतः ये बुद्ध बौद्ध मत के अनुसार ज्ञान को स्व मानते हैं एक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी समय नष्ट होता है द्वितीय ज्ञान उत्पन्न होते समय प्रथम ज्ञान नष्ट हो गया द्वितीय क्षण में द्वितीय ज्ञान उत्पन्न होता है तृतीय क्षण में तृतीय ज्ञान उत्पन्न होता है उनसे पूछते तो ये जो तो एक क्षण उत्पत्ति होकर नष्ट हो गया वो हे करके उसको देखेगा कौन कोई स्थायी पदार्थ नहीं है सब क्षणिक है योगाचार मते तो संति मतयस तासाम विवर्त्व केलव प्रतिक्षण ज्ञान भिन्न भिन्न है कोई स्थिर पदार्थ है ही नहीं है यदि स्थिर पदार्थ कोई नहीं आत्मा भी कोई अलग नहीं ज्ञान से अतिरिक्त क्षणिक विज्ञान उसको आप लोग आत्मा कहते हो प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला विज्ञान है और वेदांत भी कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान रूप है वो कहते विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है तो उसमें प्रमाण क्या है दूसरे को है नहीं जानने के लिए अच्छा दूसरे ज्ञान प्रथम ज्ञान को जानेगा तभी द्वितीय ज्ञान काल में प्रथम ज्ञान रहे तो द्वितीय ज्ञान जो उत्पन्न हुआ उसमें प्रथम क्षण ज्ञान रहेगा क्षणिक होने से उस समय नष्ट हो गया और जो तृतीय क्षण ज्ञान उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण ज्ञान भी नष्ट हो गया प्रथम क्षण ज्ञान आगे ज्ञान होगा उसको जानता है प्रकाश करेगा जब होगा उस समय नहीं रहेगा पहले प्रकाश कर गया प्रथम क्षण ज्ञान जो ज्ञान आगे उत्पन्न होगा प्रकाश कर सकता है सूर्य उदय जो होगा काल को आज देख लोगे चश्मा लगा करेंगे खाली आंख से काल को जो सूर्योदय होगा आज से देख सकते हैं क्या और काल जो सूर्य था आज देखते हैं ज्ञान आगे उत्पन्न होगा पूर्व ज्ञान उसको प्रकाश नहीं कर सकता है और जो ज्ञान नष्ट हो गया उत्तर ज्ञान उसको प्रकाश नहीं कर सकता है कोई अलग स्थायी पदार्थ ही नहीं इसलिए कहते वही ज्ञान अपने का प्रकाश करता है स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है एक साथ और उसको प्रकाश करता है स्वयं स्वयं प्रकाशक स्वयं प्रकाश ही इसे मानते हैं जैसे एक क्षण उत्पत्ति से नाश भी उसी समय और प्रकाश भी होता है सब बस और कोई है ही नहीं जानने के लिए उत्पत्ति नाश का साक्षी भी कौन होगा उत्पत्ति का साक्षी भी है नाश का साक्षी कौन होगा नाश होते समय दूसरे ज्ञान हुआ नहीं दूसरी ज्ञान जब होगा उसके पहले नाश हो गया द्वितीय ज्ञान जो उत्पन्न होगा उसमें प्रथम ज्ञान रहता है क्या नहीं रहता है नष्ट हो गया और वो जो तृतीय क्षण ज्ञान होगा उसमें द्वितीय क्षण ज्ञान नष्ट हो गया नाश को भी कौन प्रकाश करेगा स्वयं अपने नाश को प्रकाश करेगा स्वयं अपनी उत्पत्ति को प्रकाश करेगा ये कुछ नहीं है इधर कहते संवेद्य कह करके कहते स्वयं अपने को प्रकाश करता है बौद्ध मानता है बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानमिष्टम सब प्रकार समान था क्योंकि प्रत्येक क्षण क्षणिक सब को मान लिया सब क्षणिक है एक क्षण के बाद दूसरे तार्किक लोग भी ज्ञान को क्षणिक कहते हैं वो क्षणिक शब्द ले करके वो भी क्षणिक शब्द कह दिया क्योंकि तार्किक मत में जो क्षणिक है वो क्षणिक का अर्थ नहीं एक क्षण में उत्पत्ति उसी समय नाश प्रथम क्षण उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण नाश एक क्षण ज्ञान रहता है तिष्ठति प्रथम क्षण उत्पद्यते द्वितीय क्षण तिष्ठति तृतीय क्षण नश्यति तो तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम क्षणिकत्वम जिसका तृतीय क्षण में ध्वंस हो जाए प्रथम क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में ज्ञान रहा तृतीय क्षण नष्ट हो गया ये मानते हैं ये तो संभव है और उसी समय उत्पत्ति उसी समय नाश और उसको जानेगा कौन जानने वाला ही कोई नहीं घट कोई कुलाल घट बनाता है एक के बाद दूसरा बनाता है आप बैठ कर देखते हैं कोई दीप सिका नीचे से ऊपर चल रही है ये तो संभव है कोई बैठ कर देख रहा है कोई चल रहा है वो तो टांगे है और स्वयं रहता और कोई देखने वाला नहीं स्वयं उत्पत्ति नाश वाला स्वयं उत्पत्ति नाश को जानेगा ज्ञान को प्रकाश करेगा ये कल्पना करते बौद्ध तो तुम भी क्यों ऐसा मानो सिद्धांत भी समान मानो सिद्धांत कहता है बौद्ध पक्षे स्वसंवेदितायाम तो क्षण भंगुरत्व निरात्मकत्व च विज्ञान से स्यात् उनके वर्तमान ये तो खाली स्वसंवेद नहीं क्षण भंगुरत्व प्रतिक्षण नष्ट होता है और आत्मा नाम कोई पदार्थ नहीं निरात्मकत्व च विज्ञान से विज्ञान निरात्मक जड़ हो जाएगा क्षण भंगुर हो जाएगा ये श्रुति विरुद्ध है नहीं विज्ञातुर विज्ञातर विपरलोप विद्या अविनाशित्वाद विज्ञाता ज्ञाता के जो विज्ञाति स्वरूप विज्ञाति रूप ज्ञान नित्य ज्ञान स्वरूप उसका विपरीत नाश नहीं होता है अविनाशित्वात् नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्म नित्य है विभु सर्वगत है सूक्ष्म अत्यंत सवय समहान जात्मा अजरो अमर अमृत अवय इत्यादि श्रुतयो बाधिरन इस श्रुति का बाद हो जाएगा क्षणिक मानेंगे तो सवय समहान अजन्मात्मा जन्म नहीं है अजरा जरा भी नहीं अमर न मिलते थे अमर और अमर के आगे अमृत अवग्रह नहीं अमृत अमृत का तो मृत्यु वर्जित अमर अमृत में भेद है न मिलते थे अमर नहीं मरता है अमृत शब्द का तो नहीं मरता नहीं करना काम कर्म मोह आदि मृत्यु वर्जित मृत्यु वर्जित काम कर्म मोह आदि को मृत्यु का काम कर्म मोह लोभ ये मृत्यु से रहित आत्मा अभय इसमें महान अजन्म आत्मा है जन्म नाश रहित प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला ऐसा नहीं इस श्रुति का बाद हो जाएगा विज्ञान ज्ञान को क्षणिक मानेंगे तो टीका में प्रत्यक्ष से वर्तमान अवभाषकत्वाद क्षणांतर विशिष्ट स्वात्मनि क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम प्रत्यक्ष न संभवति प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो विद्यमान वस्तु उसको ही प्रकाश करेगा संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना कुमारल भट्ट ने कहा वर्तमान वस्तु गृह्यते चक्षुरादि इंद्र के द्वारा ग्रहण होता है किसका विद्यमान वस्तु का वस्तु विद्यमान होने मात्र से भी ग्रहण नहीं होगा संबद्धम इंद्रिय संबद्ध हो इंद्रिय संबद्ध हो और वस्तु विद्यमान हो तो चक्षुरादि ना गृह्यते प्रत्यक्ष होने के लिए विषय होना चाहिए वर्तमान अब विषय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो सह का कारण सहकारी आलोक आदि हो तो ग्रहण होता है वर्तमान वस्तु का प्रत्यक्ष से ग्रहण होगा प्रत्यक्ष से अतीत वस्तु का ग्रहण हो जाएगा भविष्यत वस्तु का ग्रहण हो जाएगा नहीं होता है तो इसलिए प्रत्यक्ष से वर्तमान अवभाषकत्वात् प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान वस्तु का ही प्रकाशक होता है क्षणांतर विशिष्ट ने क्षणांतर द्वितीय क्षण विशिष्ट आत्मा में क्षणांतर विशिष्टम तदेव विज्ञानम वही ज्ञान ये प्रथम क्षण में है द्वितीय क्षण में वही ज्ञान प्रत्यक्ष न संभवति उनके मत में तो दूसरे क्षण में ज्ञान दूसरा हो गया क्षणांतर में अन्य क्षण में रहा ही नहीं क्षणांतर विशिष्टम वो प्रत्यक्ष विज्ञान नहीं हो सकता है वो जो अन्य क्षण उत्तर क्षण ज्ञान पूर्व क्षण में नष्ट हो गया अतीत हो गया उत्तर क्षण के पूर्व क्षण ज्ञान को नष्ट नहीं कर प्रकाश नहीं कर सकता है और पूर्व क्षण जो ज्ञान है उत्तर क्षण ज्ञान को प्रकाश करेगा उत्तर क्षण ज्ञान पूर्व क्षण में नहीं है जो नहीं तो उसको प्रकाश नहीं कर सकता है अच्छा उत्तर क्षण ज्ञान पूर्व क्षण ज्ञान को प्रकाश करता है नहीं कर सकता है क्यों नहीं करेगा वो नहीं रहा पूर्व क्षण ज्ञान तो एक ज्ञान है तो उत्तर क्षण ज्ञान नहीं उत्तर क्षण ज्ञान है तो पूर्व क्षण ज्ञान नहीं प्रकाश से प्रकाश को दोनों एक साथ रहे इसलिए ये प्रकाश नहीं हो सकता है विज्ञानम प्रत्यक्ष न संभवते अतः स्वात्मने स्वयमेव विज्ञानम प्रत्यक्षम चेद वर्तमान ज्ञान मात्र मात्रम सत्वम स्यात् स्वात्मने स्वयं विज्ञान प्रत्यक्ष स्वात्म में तो वर्तमान क्षण मात्र वर्तमान रहेगा केवल वर्तमान रहेगा तो क्या होगा स्व संवेद्यत्वेन साक्षिण कारण निरात्मत्वम च स्यादेव श्रुति विरुद्धम साक्षी कोई स्वयं प्रकाश नहीं मानते हैं वेदांत मत में ज्ञान की उत्पत्ति नाश है वृत्ति ज्ञान की उसको प्रकाश करने वाले साक्षी अलग है साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षी साक्षात पश्यति साक्षात पश्यति का तो प्रमाण व्यापार के बिना ही प्रकाश करता है साक्षी वृत्ति की उत्पत्ति नाश होते साक्षी प्रकाश करता है वो स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने वाला कोई मानेंगे तो अनवता है ज्ञान होता है तो ज्ञान हो गया क्रम हमको निश्चय होता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है वो प्रकाश करने वाले साक्षी अलग है जो साक्षी ज्ञान जागृत में भी रहता है स्वप्न में भी रहता है सुषुप्ति में भी रहता है वो नित्य है ये मानते हैं के अनुसार किंतु बौद्ध के अनुसार अलग साक्षी नहीं मानते साक्षी नौनगी का रात नहीं मान से क्या होगा जो ज्ञान प्रथम क्षण नष्ट हो गया द्वितीय क्षण ज्ञान दूसरा होगा तो कोई स्थायी वस्तु न नहीं रहा इसलिए निरात्मक हो जाएगा साखी हो तो सात्मक होगा साखी कोई नहीं रहा निरात्मकत्वम स्याद एव श्रुति विरुद्धम ये श्रुति विरुद्ध है सवाय महान जात्मा अजर अमर नित्य विमुख आ गया नित्य आत्मा है प्रतिबोध वाक्य से अर्थांतरम संकते प्रतिबोध विदित वाक्य के दूसरे अर्थ भी शंका करते यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमितो बोध प्रतिबोध यथा सुप्त से इत्यर्थ परिकल्पयन्ति ये कोई कहते प्रतिबोध विदितम मतलब बिना निमित्त ज्ञान हो जाता है प्रतिबोध विदितम प्रतिबोध शब्देन निर्निमितो बोध निमित्त के बिना बोध ज्ञान हो जाता है प्रमाण वृत्ति के बिना जो ज्ञान उसको प्रतिबोध विदित कहा निमित्त बोध के लिए निमित्त होता है प्रमाण प्रमाण वृत्ति के बिना जो बोध है उसको कहते प्रतिबोध विदित मतम तो जो शुद्ध ज्ञान है वो तो ज्ञान नित्य है ही प्रतिबोध शब्द से निर्निमित बोध कोई कहते हैं प्रतिबोध यथा सुप्तस्य इति अर्थ प्रतिकल्पयन्ति सुप्तस्य प्रतिबोध सो यह कोई प्रमाण के बिना नहीं ऐसे जग गया बोध हो गया टीका में ब्रह्महमस्मीति चिंतयतो याव चेतो व्यापृति तावत संप्रज्ञात समाधि समाधि निवृत्त चेतो व्यापार यह परमानंद साक्षात्कार सदसुतानंद साक्षात्कारवत स्व संप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध उच्यते ब्रह्मा अहम अस्मिति चिंतयत श्रवण मनन करने के बाद अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करता है चित्त की वृत्ति व्यापार हो रहा है चेतो व्यापृति व्यापार चित्त का व्यापार होता है अहम अस्मि ब्रह्म अंतकरण परिणाम चल रहा है वृत्ति चल रही जब तक चित्त का व्यापार चल रहा है तब तक संप्रज्ञात समाधि वो चित्त वृत्ति चल रही है निवृत्त चेतो तो व्यापार है कोई कहते हैं चेतो व्यापार निवृत्त हो जाएगा वृत्ति समाप्त हो जाएगी समाप्त होने पर यह परमानंद साक्षात्कार परमानंद साक्षात्कार ज्ञान रूपे वह प्रतिबोध शब्द से कहते हैं परमानंद साक्षात्कार कैसे सौसुप्त आनंद साक्षात्कारवत सुप्त से प्रतिबोध सोया हुआ यज्ञ ये अर्थ है नहीं तो सुप्त जो ज्ञान सोया हुआ ज्ञान रहता है उठने के बाद कथा न किंचित अभिदिशम सुखम अहम सम सब सुत आनंद साक्षात्कार के समान सो असंप्रज्ञात समाधि वृत्ति व्यापार अंतकरण व्यापार समाप्त होने पर आनंद रूप ब्रह्म रहा उसको असंप्रज्ञात समाधि उसको प्रतिबोध कहा गया ऐसा कुछ लोग कहते हैं तदुक्तम भारतीय कृता भारतीय करने सुरेश आचार्य ने कहा अपरायत बोधो ही निदिध्यासनमुच्यते अपरायत बोध ही निधिहासन उच्यते जो बोध अपरायत परायत न वृत्ति से आवरण भंग होने पर सिद्धांत के अनुसार पहले ब्रह्माकार वृत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति होने पर अहम अस्मि ब्रह्म निरंतर वृत्ति होने से उसी वृत्ति ज्ञान से उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं संशय विपर रहित जो ब्रह्म ज्ञान वही उसको अपरिचय दृढ़ उसी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है आवरण भंग होता है अज्ञान आवरण तो वृत्ति से आवरण भंग होने पर निरावरण ब्रह्म स्वरूप रहा वो निरावरण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है स्वयं प्रकाश माने स्वयं प्रकाश माने तो उसको अपरायत बोध परायत नहीं पर के अधीन नहीं न परायत पराधीन नहीं स्वतंत्र स्वयं प्रकाश ब्रह्म इसको प्रतिबोध इसको कहा निधिध्यासन मुच्यते अपरायत तो बोधे निदिध्यासन मुच्यति इति ये सिद्धांत के अनुसार है टिप्पणी दिया पूर्व अथवा ये पूर्व पक्ष के अनुसार अपरायत तो बोध निदिध्यासन का जो शुद्ध ब्रह्म निदिध्यासन का ऐसे वार्तिका ने कहा अथवा अक्रिय ब्रह्मात्म तो अनुभव अनुभवे अनुभवे अनुभवे सति प्रमातृत्व अनुपपतु पुनर्ज्ञानासंभवाद सद्य मुक्ति कारणम सकृत विज्ञानम प्रतिबोधे उच्यते अक्रिय ब्रह्मात्म तो अनुभूते सति अनुभवे सति अक्रिय ब्रह्मात्म का अनुभव हो जाने पर अहम सिम ब्रह्म साक्षात्कार हो गया ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान नष्ट हो गया आगे प्रमात्रित्व अनुपपतु प्रमातृत्व अंतकण विशिष्ट चेतन में होता है ज्ञातृत्व प्रमात्रित्व जीवन प्रमातृत्व प्रमाता होता अंतकरण विशिष्ट चेतन जब अहम ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया और अंतकरण विशिष्ट चेतन में प्रमातृत्व कुछ अलग ही नहीं विशिष्ट तो होता है शुद्ध स्वरूप के अज्ञान से चिदाभास दिखता अंतकरण में उसको प्रमाता में ऐसे मान लेता है अंतकरण विशिष्ट चेतन में प्रमातृत्व ज्ञातृत्व ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी अज्ञान अवस्था में है जो साक्षात्कार हो गया अहम अस्मि ब्रह्म और ब्रह्म कैसे सर्वम सर्वम अहम सर्वम च ब्रह्मेव सर्वम और मैं ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं तो फिर प्रमाता ज्ञाता किसका ज्ञाता होगा ज्ञेय पदार्थ कोई रहा नहीं भिन्न ज्ञान नहीं तो ज्ञान हो जाने पर प्रमातृत्व तो कुछ नहीं है प्रमातृत्व प्रमाण प्रमातृ प्रमाण प्रमेय सब समाप्त हो जाते हैं फिर उसके बाद पुनर्ज्ञान असंभवाद और ज्ञान नहीं होने से सद्य मुक्ति का कारण जो ज्ञान हुआ सकृत विज्ञानम वो तो स्वयं प्रकाश ज्ञान इसको प्रतिबोध कहते हैं ऐसा भी व्याख्यान है सकृत प्रवृत्ति मृदनाति क्रियाकारक रूप वृत अज्ञानम आगम अज्ञानम सांगत्यम नास्त्यतो नयोः आगम ज्ञानम सकृत प्रवृत्या अज्ञानम क्रियाकारक रूपवृत अज्ञान मृदनाति आगम ज्ञानम सकृत प्रवृत्या क्रियाकारक रूपवृत अज्ञानम मृदनाति अतः अतो अनयो सांगत्यम नास्ति अज्ञान ज्ञान का सांगत्यम समानाधिकरणम एक काल वृत्तित्वम नास्ति एक काल में अज्ञान ज्ञान नहीं है आगम ज्ञानम आगम वाक्य जन ज्ञानम सकृत प्रवृत्तिया एक बार जो उत्पन्न हो गया तो नष्ट कर देता है प्रकाश होते अंधकार नष्ट कर लेता है इस पर आगम जन्य ज्ञानम एक बार होते ही क्रियाकार के रूप वृत ज्ञानम क्रियाकार रूप को रूपम विभर्तेति क्रियाकार रूप वृत क्रियाकारक कर्ता कर्म करणादि कारक रूप को धारण करने वाले अज्ञान है अज्ञान से ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ये तीनों भान होते हैं क्रिया है ज्ञान कार्य के कर्ता कर्म इसको ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान रूप को धारण करने वाला ज्ञान एक बार आगम ज्ञान होते ही नष्ट कर देता है मृदनादि नष्ट कर देता है ज्ञान ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया तो अतो अनयो सांगत्य नास्ति अतः ज्ञान अज्ञान ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते हैं मिथ्या नष्ट हो ज्ञान नष्ट हो गया ये ज्ञान होते ही अज्ञान चला गया तो शुद्ध स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान आगे प्रमात्रित्व तो नहीं रहा इति ऐसे भी कोई व्याख्यान करते हैं पक्ष द्वयेपि अरुचि माह इसमें भगवान भाष्यकार अरुचि कहते कोई तो कहा स्वयं प्रकाश बोध है और कोई कहते सकृत विज्ञानम एक बार प्रकाश हो गया ज्ञान हो गया उसका अरुचि के देखा थे बोध निर्निमित बोध हो या सन्निमित बोध हो प्रतिबोध विदितम जो कहा है सन्निमित सत्कृत वा असकृत वा प्रतिबोध है वही सह प्रतिबोध विदितम प्रतिबोध है आत्मा वो बोध निर्निमित बोध स्वयं ज्ञान है निर्निमित बोध वृत्ति ज्ञान है सन्निमित जो शुद्ध ज्ञान ओके इसका कोई निमित्त नहीं अवृत्ति ज्ञान है सन्निमित्त तो सन्निमित हो निर्निमित्त हो सकृत बोध हो असकृत भाव सकृत बोध कोई कहते एक बार ज्ञान हो गया सब नष्ट कर दिया एक बार ज्ञान हो सब नष्ट कर दिया अथवा बार-बार ज्ञान होते ही संशय विपर नष्ट होने पर जो दृढ़ हो जाता है अपरिचय पक्को हो जाता है अज्ञान नष्ट होता है सकृत हो असकृत एक बार हो बार-बार हो सन्निमित हो निर्निमित्त हो वह तो आत्मा प्रतिबोध है वही सब प्रतिबोध ही है प्रत्येक बोध में साक्षी रूप से स्थित है उसको समझना ये जो कहते हैं निमित्त बोध को प्रतिबोध कहा पहले ज्ञान होने ज्ञान अज्ञान का निवर्तक ज्ञान दो है एक नित्य ज्ञान और एक अनित्य ज्ञान अनित्य ज्ञान एक व्यक्ति नहीं अनेक है सबको अनित्य ज्ञान को अनित्य ज्ञान शब्द से कह दिया और नित्य ज्ञान एक है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान उत्पन्न होता है महावाक्य से महावाक्य प्रमाण से उत्पन्न होगा वो अज्ञान का निवर्तक होगा तो अज्ञान का निवर्तक निवर्तक जो ज्ञान उत्पन्न होता है या नष्ट होता है उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा फिर नष्ट भी हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर बंधन में आएगा ब्रह्म ज्ञान हुआ बहुत प्रयत्न करके फिर नष्ट हो गया फिर अज्ञानी हो गया एक बार ब्रह्म ज्ञान होने से अज्ञान को निवृत्त कर दिया आगे ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट हो जाता है उसमें दृष्टांत देते कतक रज कतक रज मिट्टी में पानी में मिट्टी मिला हुआ है अभी वर्षा के समय में नदी में पानी आता है तो थोड़ा मिट्टी मिला हुआ उसमें कतक रज कतक एक फल का बीज होता है बीज थोड़ा घिस देने पर थोड़ा रज चूर्ण डाल देंगे तो महिला तो बढ़ जाएगा और कतक रज भी बढ़ जाता है वो जो लोग नहीं देखे फिटिकरी कह देते हैं फिटिकरी नहीं कतक रज कतक रज अलग है फिटिकरी तो पानी में लगाएंगे तो महिला तो बढ़ जाता है फिटिकरी का अंश पानी में रह जाता है थोड़ा अधिक फिटिकर हुआ तो पीते समय पता चल जाता है वो दृष्टांत जो कतक रज है हमने देखा है बीज यहाँ रखा था बीज से थोड़ा पानी में घिस दो मैला बढ़ जाएगा कतक ही बढ़ जाएगा इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देगा स्वयं नष्ट हो जाएगा स्वयं यदि नष्ट नहीं हो अज्ञान तो नष्ट हो गया ब्रह्माकार वृत्ति रह जाएगी तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा फिर वो नष्ट नहीं होगा अज्ञान संसार नष्ट हो गया कि नहीं ब्रह्माकार वृत्ति पीछा नहीं छोड़ेगी शुद्ध ब्रह्म रहा और के ब्रह्माकार वृत्ति तो अद्वैत कैसे होगा इसे समय नष्ट हो जाती है तो ब्रह्माकार वृत्ति जो ज्ञान है अनित्य ज्ञान है उत्पत्ति नाश वाला है उत्पत्ति नाश वाला है वही अज्ञान का निवर्तक है महावाक्य से उत्पन्न होगा कि नष्ट होता है वही नाश करता है नष्ट होने के बाद जब ब्रह्म स्वरूप स्वयं प्रकाशमान रहा किंतु स्वयं प्रकाशमान जो बोध ज्ञान है वह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है इसलिए कोई उसके ऊपर बड़े आडंबर करके चलाते हैं ओह जो ज्ञान है कर्ण निरपेक्ष है उसे कोई कर्ण की आवश्यकता नहीं क्या कारण निरपेक्ष है दूसरे का तो हां बहुत आशा कर्ण निरपेक्ष है किसको कर्म निरपेक्ष कहना है दो विवाह करो जो नित्य ज्ञान है वो किसकी अपेक्षा करता है कर्ता कर्म करण किसकी अपेक्षा करता है क्या उसको कर्ण निरपेक्ष क्यों कहना जो कर्ता को अपेक्षा करे कर्म को अपेक्षा करे देश काल वस्तु को अपेक्षा करे कर्ण की अपेक्षा नहीं करे तो उसको कहना कर्ण निरपेक्ष वो तो निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं करता नित्य ज्ञान किसकी अपेक्षा करता है किसकी अपेक्षा करेगा जो किसी की अपेक्षा नहीं करता है नित्य है नित्य बोल दो किसी अपेक्षा नहीं करता है उसको कर्ण निरपेक्ष क्यों चाहते जो किसी की भी अपेक्षा नहीं करता है वो कर्ण की अपेक्षा नहीं करता अर्थात अन्य की अपेक्षा करता है कोई कहेगा आज मैं चावल नहीं खा भात नहीं खाऊंगा भात नहीं खाएगा तो यदि कुछ नहीं खाता है बोला हम कुछ नहीं खाए तब ठीक है अब भात नहीं खाएगा तो रोटी खाएगा कोई कहे तुम चाय नहीं पियो फिर जो कॉफी पीने लगे फिर बोले अरे कॉफी क्यों पी तो अब नहीं कॉफी नहीं पिया दूसरे दिन तीसरे दिन भी चाय पीने लगे चाय नहीं तो कॉफी पियो कॉफी नहीं तो चाय पियो एक महात्मा बताए गुजरात में गए सब्जी में मीठा डालते हैं बोले इसमें शक्कर नहीं डालो दूसरे दिन चीनी डाल दिया नहीं नहीं चीनी डालना है बोले ना आज गुड़ डाला है ज्ञान यदि नित्य ज्ञान को लेंगे उसमें कर्ण निरपेक्ष शब्द कहने की आवश्यकता नहीं नित्य ज्ञान ही किसी की अपेक्षा नहीं करता है स्पष्ट कर दो जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होगा या नित्य है प्रमाण से उत्पन्न होगा कर्ण होते प्रमा कर्णम प्रमाणम वो कर्ण है नहीं महा कर्ण प्रमाण से उत्पन्न होगा तो प्रमाण क्या कहते किसको प्रमा कर्णम प्रमाणम तो जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है जो वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होता है वह कर्ण निरपेक्ष है क्या है कर्ण निरपेक्ष है जो प्रमाण से उत्पन्न होगा वो कर्ण की अपेक्षा करता है नहीं करता है कौन सा कर्ण प्रमाकरण प्रमाण प्रमाण के बिना उत्पन्न होगा क्या जब प्रमाण सापेक्ष है उसको कर्ण निरपेक्ष कहेंगे प्रमाण ही है प्रमाण करण क्या है नहीं जानकर कर खाली करण का तो कुठार लेंगे तो करण का तो कुठार हो हाँ, ज्ञान कुठार की अपेक्षा नहीं करता है कुठार जरूरत है क्या किंतु करण का तो असाधारण कारणम करणम व्यापारवत असाधारण कारणम करणम इसलिए थोड़ा न्याय का भी ज्ञान चाहिए करण शब्द का अर्थ क्या है प्रमाण भी करण है प्रमाकरणम प्रमाणम कर्ण की प्रमाण की अपेक्षा नहीं कर ज्ञान किस उत्पन्न होगा नित्य ज्ञान को कर्ण निरपेक्ष कहना उचित है क्या क्यों नहीं नित्य ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं करता है तो कर्ण निरपेक्ष क्यों कहना कहेंगे पत्थर रोटी नहीं खाता है ये जो कलम है ना ये रोटी नहीं खाती है ये कलम रोटी नहीं खाती है अर्थात दूध पी कर रहती है या फलाधार करती है या चाय पीती है या भात खाती है जो कुछ नहीं खाते उसको रोटी नहीं खाती क्यों कहना ये कलम फल नहीं खाती है ये घड़ा है ना ये घड़ा फल नहीं खाता है घड़ा जब कुछ नहीं खाता है फल नहीं खाता है क्यों कहना जो कुछ नहीं खाता उसको कहेंगे फल नहीं खाता है अथवा रोटी नहीं खाता है क्यों कहना कुछ नहीं खाता बोलो जो नित्य ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं करता उसको कारण निरपेक्ष कहना कोई जरूरत नहीं जो अनित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो करने की अपेक्षा करेगा नहीं करेगा और करने पीछे फिर किसको ज्ञान कहना इसलिए वो भ्रांत और भ्रामक बहुत होते हैं इस विषय में ऐसे भगवान भाष्यकार कहते वो बोध निर्निमित बोध हो सन्निमित बोध हो जो सकृत विदित हो असकृत हो वो बोध प्रतिबोध है वही सब प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से है ये टीका में दे दिया अच्छा इसमें तो थोड़ा है अयम आशय अभिप्राय क्या है न तावत अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य निर्निमितत्वम संभवति देखो यहाँ स्पष्ट है इसको स्पष्ट जानना बहुत लोग इसमें भ्रांत है अविद्या निवर्तकस्य बोधस्य अविद्या का निवर्तक जो बोध है वो नित्य है या नहीं आगंतुकस्य आगंतुकन से अनित्य ब्रह्म आकार वृत्ति आगंतुक से बोधस्य जो आगंतुक बोध है ब्रह्माकार वृत्ति वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होगा वो निर्निमित है सनिमित है निर्निमित हो सकता है निर्निमितत्व न समझते उसको निर्निमित नहीं कह सकते हैं देखो स्पष्ट है जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो आगंतुक है अनित्य है वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होगा उसको निर्निमित वो निर्निमित नहीं है और तो कारण निरपेक्ष होगा नहीं होगा निर्निमित है तो कारण निरपेक्ष कैसे होगा निर्निमित है क्या ज्ञान निर्निमित है क्या निर्निमित नहीं है सन्निमित है प्रमाण की अपेक्षा करता है उत्पत्ति के लिए प्रमाण के बिना ब्रह्म ज्ञान होगा निर्निमित्त नहीं हो सकता है क्यों नहीं कार्य से सन्निमित्तत्व तो व्याप्ते कार्य सन्निमित्त होता है यत् तत् कार्यम तत् सन्निमित्तम यत्र कार्यत्वम तत्र सन्निमित्तकत्वम निमित्त वाला होता है कार्य जो नित्य होगा निमित्त की अपेक्षा करता है अच्छा नित्य जो पदार्थ है उसका समवाय कारण क्या होगा नित्य आकाश है नित्य आत्मा है उसका समवाय कारण क्या है है तर्क जो पढ़े बताओ असमवाय कारण और निमित्त कारण तो कोई होगा जो नित्य है उसका कारण ही नहीं जिसका कारण नहीं है और समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण क्या पूछना ब्रह्म का कोई समवाय कारण नहीं है जो नित्य पदार्थ है उसका समवाय कारण नहीं होता है अर्थात असमवाय कारण निमित्त कारण है जो नित्य उसका कारण ही नहीं है सीधा चला गया और उस, उसका समवाय कारण नहीं क्या कार्य है उसका कोई कारण होगा बिना कारण कोई कार्य होता है बताओ नहीं कार्य से सन्मितत्व व्याप्ति जो आगंतुक को ज्ञान अज्ञान क्या निवर्तक ब्रह्म ज्ञान वो कार्य है या नित्य है कार्य कौन हुआ अज्ञान निवर्तक ब्रह्म ज्ञान कार्य है हाँ बहुत लोग समझो ठीक कि नहीं तो डर लगता है ब्रह्म ज्ञान को कार्य कह देंगे ब्रह्म ज्ञान को अनित्य कह देंगे डरते अरे ब्रह्म ज्ञान अनित्य नष्ट हो जाएगा तो गया व्यर्थ हो गया इतने प्रयत्न कर ब्रह्म ज्ञान चला जाएगा ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक किंतु ब्रह्म ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है अनित्य है और नष्ट भी हो जाता है कार्य सन्निमित होता है इसलिए जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक वो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है नहीं शुद्ध ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं शुद्ध ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक होता है जो इसमें सम्मत हाथ उठाओ जो नित्य ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक होता है कोई मानते तो हाथ उठाओ कोई नहीं अच्छा जो अनित्य ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति वो अज्ञान का निवर्तक इसको कोई मानते तो हाथ उठाओ इसमें भी बहुत लोग नहीं मानते मानने वाले तो कुछ है नहीं मानने वाले भी कम नहीं है नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं अनित्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तकी नहीं तो अज्ञान की निवृत्ति कभी हो सकती है या कभी नहीं हुई कोई कहता तो अनादि काल से चल रहा है तो आगे क्यों नष्ट होगा ऐसे चलता रहेगा कोई कहते डरते हैं नष्ट हो जाएगा यदि तो फिर क्या होगा मुक्त मुख्य हो जाएगा मोक्ष मिल जाएगा तो क्या होगा मालूम है हां जो मुक्त हो जाएगा आगे संसार नहीं आ सकता है ये तो सब चलता रहेगा समष्टि भंडारा कुंभ सब चलेगा जो मुक्त हो जाएगा वो यहां फिर दोबारा नहीं आ सकता है इसे समझ बुझ करके <laughs> वेदांत श्रवण करने के पहले विचार करो तो इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा तो देहात्म ज्ञान बज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनेव भवेद्यस्य सन्नेच्छन मुच्यते देह में जैसे आत्मा बुद्धि है देहात्म ज्ञान बाधक आत्मा में ब्रह्म में ब्रह्म ऐसे ज्ञान जिसको हो गया इच्छा नहीं करने पर भी मुक्त हो जाएगा वेदांत श्रवण करता है तो ज्ञान हो जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी विचारा जायते बोधो अनिच्छायम न निवर्तयते विचार से बोध हो जाएगा अनिच्छा होने पर भी नहीं रोकेगा और ज्ञान हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी अब मोक्ष हो गया तो फिर दोबारा नहीं आ सकता है दोबारा फिर कुंभ आने वाला है रोज रोज <laughs> आगे आगे क्या सुख संसार भोग नहीं मिलेगा मोक्ष हो गया से तो। इसलिए वेदांत विचार करने के पहले सोच विचार कर प्रारंभ करें कोई लोग डरते हैं सब लोग तो आएंगे हम नहीं आ पाएंगे <laughs> <laughs> तो क्या कहाँ जाकर रहिए <laughs> ये संसार में नहीं आएगा तो क्या होगा उसकी अपेक्षा तो आना जाना आशा है ये जो ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक अनित्य होने पर भी अज्ञान को नष्ट कर दिया नष्ट होने के बाद अज्ञान की दो बार उत्पत्ति नहीं होगी अज्ञान अनादि मुक्त हो जाता है इसको कहते जीवन मुक्त अज्ञान नष्ट होने पर भय लग गया फिर अज्ञान आ जाएगा कोई नहीं अज्ञान नष्ट हो गया तो गया नित्य आनंद स्वरूप है नित्य आनंद स्वरूप में दुख का अभाव नहीं है दुख तो संसार में है संसार में आने पर दुख भोगना ही पड़ेगा ज्ञान स्वरूप स्थित हो गया बिना कोई विषय परिपूर्ण आनंद रूप से रहा उसमें दुख तो नहीं भय तो लगेगा नहीं अभय पद है भय नहीं है कोई समझते अकेले हो जाएंगे तो भय लगेगा अद्वितीय ब्रह्म अकेले रहेगा इधर उधर जहां देखो कोई नहीं है कोई नहीं हुआ तो भय लगेगा अभय पद है ब्रह्म अपना स्वरूप अज्ञान के कारण भय है ओम आप्यायन्तु ममांगानी